जनाब मोहम्मद बिन अमर आमरी बयान करते हैं कि मैं असाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस में था तो वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जिक्र शुरू हो गया हजरत अबू हुमैद रजी अल्लाह तु ने कहा और मस्कूरा हदीस का कुछ हिस्सा बयान किया उसमें कहा आप जब रुकू करते तो अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ लेते और अपनी उंगलियों को खोल लेते और अपनी कमर को दोहरा करते सर ना तो उठाया होता और न अपने रुखसारे को इधर उधर मोड़ा होता बल्कि सीधा क़िबला रुख होता मजीद कहा और जब दो रकातों के बाद बैठते तो अपने बाएं पांव के तलवे पर बैठते और दाएं को खड़ा कर लेते और जब चौथी रकात में बैठते तो अपनी बाई रान को जमीन पर टिका देते और अपने दोनों पांव को एक जाने में निकाल लेते सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर सात सौ इकतीस